लेकिन जब अल्लाह ने उनको एक तंदुरुस्त बच्चा दे दिया तो उन दोनों ने अल्लाह की अता की हुई नेमत में अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराना शुरू कर दिया हालांकि अल्लाह उनकी मुश्रकाना बातों से कहीं बुलंद और बढ़तर है